नहीं तुम गलत समझ रहा है इसमें मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है उसने कुछ नहीं किया है अशोक ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा मैंने अकेले ही सबका मर्डर किया था मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया वो वो सिर्फ स्पीड बोर्ड लेकर गई थी तेरी तो ये ले विक्रांत ने गुस्से में आकर अशोक के सामने एक और फाइल फेंक दी है ये देखो इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तुम्हारी माँ मेंटली सिक थी वो अक्सर वायलेंट करने लगती थी खुद तुम्हारा डिवोर्स भी इसी वजह से हुआ था तुम्हारी वाइफ ने साफ कहा था कि उसे तुम्हारी माँ से डर लगता था उसे डर था कि कहीं तुम्हारी माँ उसको और उसके बच्चे को जान से ना मार दे इसी डर की वजह से उसने तुम्हें तलाक दिया था नहीं नहीं झूठ है ये अशोकन की आंखों से भरपूर आंसू बह रहा था और वो किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि उसकी माँ भी उसके साथ मर्डर में इन्वॉल्व थी नहीं नहीं मेरे माँ ने कुछ नहीं किया सब कुछ मैंने की है अशोकन लगभग रोते हुए कहा सर अनुष्का ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा वो विक्रांत को यह बताना चाहती थी कि अशोकन की मानसिक स्थिति अभी उतनी ठीक नहीं है ऐसे में उससे अब पूछताछ बंद कर देनी चाहिए माँ माँ ये क्या हो गई अशोकन अभी रोए भी जा रहा था तभी अचानक से इंटेरोगेशन रूम का गेट खुला और हर्ष भागता हुआ विक्रांत के पास पहुंचा विक्रांत के पास पहुंचकर उसने धीरे से उसके कान में कहा सर आपने जैसा कहा था हम लोगों ने वैसा ही किया अशोकन ने कन्फेशन का वीडियो हमने बासु को दिखाया बासु ने वीडियो देखते ही सब कुछ उगलना शुरू कर दिया हमारा प्लान सही काम कर गया बासु जो कुछ बता रही है वो ही सही स्टोरी है ये सुनकर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया दरअसल विक्रांत ने सच्चाई का पता लगाने के लिए ही ये प्लान बनाया था उसने बासु से सच उगलवाने के लिए ये खास प्लान बनाया था शुरू से ही विक्रांत का मेन फोकस बासु ही थी वो बासु के मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवाना चाहता था दरअसल अशोकन ऑलरेडी पुलिस फोर्स में नौकरी करता था और उसे पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में अच्छे से पता था ऐसे में उससे सच्चाई उगलवाना थोड़ा मुश्किल था विक्रांत ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा था कि अशोकन इतनी आसानी से पूरी बात कतई नहीं बताएगा निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ कहानी अपनी तरफ से जोड़कर बना लेगा ऐसे में अगर सच्चाई जानना है तो बासु से ही पता चलेगी बासु से सच उगलवाने के लिए विक्रांत ने पहले तो उसे इमोशनली तोड़ने का प्लान बनाया इसके लिए उसने अशोकन के इंटरोगेशन का वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बासु को दिखाने के लिए कह रखा था ताकि बासु को ये यकीन हो जाए कि अशोकन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है ताकि वो सारा ब्लेम अकेले खुद के ऊपर ले रखा है ऐसी सिचुएशन में बासु निश्चित रूप से अपना जुर्म भी कबूल कर लेगी क्योंकि वो किसी भी हालत में अकेले अपने बेटे को सजा पाते नहीं देख पाएगी सच में विक्रांत का प्लान काम कर गया और जैसे ही बासु ने अशोकन का वीडियो देखा तुरंत ही उसने हर्ष और हर्षित को सारी सच्चाई बताना शुरू कर दिया हर्षित ने बासु की पूरी बात रिकॉर्ड कर लिया था मर्डर वाली रात तकरीबन 10 बजे अशोकन अपनी माँ बासु लहरी के साथ लाइट हाउस के पास की झाड़ियों के बीच में छुप कर बैठे हुए थे माँ तुम टेंट से थोड़ा दूर रहो कोई देख ना ले अशोकन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा तुम हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ा देगा अभी वो प्रसाद ने तुम्हें देखी तो नहीं है नहीं नहीं नहीं देखा उसके देखने से पहले मैं भाग गई थी अशोकन की माँ बासु ने जवाब दिया तुमने उन लोगों को नशे की गोली भी दी है ना कब तक असर करेगी वो उसका असर होने में अभी एक घंटा लगेगा तब तक हम लोगों को इधर ही वेट करनी पड़ेगी अशोकन ने कहा और तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं मैं अकेले ही सब कर लेगा तुम बस शांति से इधर बैठी रहेगा ठीक है हाँ ठीक है बासु ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा इसके बाद तकरीबन दो घंटे तक ये लोग वहीं बैठे रहे और फिल्म क्रू के लोगों के बेहोश होने का इंतजार करते रहे दो घंटे बाद अचानक से कैमरामैन अनिकेत के टेंट में से एक आदमी बाहर की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ा उसने अपने पास एक बैग भी ले रखा था वो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था अनिकेत के टेंट से बाहर निकलकर वो आदमी सीधे लाइट हाउस की तरफ भागा जा रहा था उसके पीछे अशोकन भी तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा था वो शख्स कोई और नहीं बल्कि दया ही था अशोकन और उसके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अशोकन उसे पकड़ पाएगा दयाकर अपनी पूरी ताकत से भागे जा रहा था तभी अचानक से अशोकन की माँ बासु दयाकर के ऊपर कूद पड़ी उसने दयाकर की गर्दन को दबोच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया अशोकन अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगा कुछ ही सेकंड में वहां पर अशोकन भी भागता हुआ पहुंच गया अशोकन ने वहां पहुंचकर अपनी माँ को दयाकर से दूर हटाया और खुद ही दयाकर से भिड़ गया दोनों काफी देर तक एक दूसरे से भिड़ते रहे इसी बीच अचानक से दयाकर के सिर पर एक जोरदार पत्थर आकर गिर गया दयाकर लहुलवान होकर जमीन पर गिर पड़ा अशोकन को समझ पाता उससे पहले दयाकर के सिर पर एक काफी भारी सा पत्थर आकर गिरा और एक पल में उसकी जान निकल गई ओह ये ये क्या कर दिया आपने खून खून कर दिया अशोकन ने चौंकते हुए अपनी माँ से कहा तो क्या करती मैं अगर इसको नहीं मारती तो फिर ये जाकर सबको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती फिर फिर हम क्या जवाब देते इतना कहते हुए बासु ने फिर से पत्थर अपने हाथ में उठा लिया और फिर से दयाकर के सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया अब तो दयाकर का चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था अशोकन काफी घबरा गया था उसने बासु के हाथ से पत्थर छीन लिया और उसे डपटते हुए बोल पड़ा नहीं ये क्या कर रही हो माइंड खराब हो गया है क्या तुम्हारा मर चुका है वो क्यों मार दिया उसे उसने हम दोनों को देख लिया था तो मारने की क्या जरूरत थी अशोकन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा अरे अगर हम लोग ने सिर्फ फिल्म की क्लिप को गायब किया तो ये लोग फिर से इधर आकर शूटिंग कर सकता है लेकिन अगर हम इन लोगों का मर्डर कर देगा तब फिर कोई भी इधर आकर फिल्म की शूटिंग करने की हिम्मत नहीं करेगी अशोक ने तुरंत ही जवाब दिया अच्छा और अगर किसी को शूट करना ही रहेगा तो फिर तो फिर वो दूसरे प्लेस पर जाकर भी तो शूट कर सकती है ना ऐसे इन लोगों का खून करने से क्या सोल्यूशन निकलेगी बासु को भी अशोकन की बात कुछ हद तक समझ में आ रही थी इसीलिए वो बिना कुछ बोले कुछ देर तक खड़ी रही अशोकन फिर से अपना सिर खुजाते हुए ये सोचने लगा कि अब दया करके डेड बॉडी का क्या किया जाए बासु अब थोड़ी डरी हुई नजर आ रही थी उसने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा पुलिस हम लोगों को पकड़ सकती है क्या माँ इधर का पुलिस में ही है अशोकन ने दया करके डेड बॉडी को चेक करते हुए कहा जल्दी उसे दया करके पॉकेट में से एक यूएसबी बोट की चाबी और एक सैमसंग का मोबाइल फोन मिल गया फिर अशोकन के दिमाग में आया कि मैंने इसके साथ फाइट की है इसके नेल्स में मेरा डीएनए जरूर चला गया होगा पक्का पुलिस मुझे पकड़ लेगी तब जाकर बासु को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है इसकी बॉडी को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगानी होगी और इस प्लेस को भी क्लीन करनी होगी तभी हम लोग पुलिस की पकड़ से बचा रह सकता है वरना पुलिस वाले पक्का हमें अरेस्ट कर लेगा जैसे अशोकन ने अपनी माँ बासु को समझाते हुए ये बात कही तभी दयाकर के फोन में एक कोई मैसेज आया फिर दयाकर के फोन का स्क्रीन लॉक खोलने के लिए अशोकन ने दयाकर की ठंडी पड़ी उंगली को उठाकर फोन के लॉक पर लगाया जब अशोक ने दयाकर के फोन में आए हुए मैसेज को पढ़ा और उसे पूरे फोन को चेक किया तब जाकर अशोकन को समझ में आया कि दयाकर क्यों कैमरामैन अनिकेत के टेंट से भागता हुआ दिख रहा था अब हम लोग क्या करेगा बासु ने परेशान होते हुए अशोकन से सवाल किया अशोकन ने उसे कहा तुम यहाँ पर साफ सफाई करो ये खून वगैरह हटाओ इधर से स्टोन भी हटाओ मैं पहले जाकर फिल्म की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता हूँ इसके बाद हम लोग इसकी डेड बॉडी को ले जाकर कहीं दूर फेंक देगा जब तक पुलिस को दयाकर का डेड बॉडी नहीं मिल जाएगा तब तक वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकता अशोकन ने एक लंबी सांस ली और फिर दयाकर के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा यह अच्छा है कि यह आदमी खुद ही इधर से भागने वाला था मैं इसकी डेड बॉडी को लेकर समंदर के बीच में कहीं ले जाकर फेंक दूंगा और तब तक तुम इसका बोट लेकर सीधे बरकला के मेन बीच की तरफ निकल जाना ताकि पुलिस को ये लगे कि दयाकर खुद ही बोट लेकर फरार हो गई है ये सब बताने के बाद अशोक ने दयाकर के नेक को चेक किया तो उसको बैग में से एक सिग्नल गन भी मिला ओ ठीक है ये सुनकर बासु ने अपना सिर सहमति में हिला दिया और फिर वो दयाकर के मर्डर का सबूत मिटाने में लग गई अशोकन के कहने के अनुसार उसने वहां पर दया करके खून का कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा अशोकन फिर से कैमरामैन अनिकेत के टेंट में जाकर वहां से फिल्म की सारी क्लिप डिलीट करने में लग गया तकरीबन पंद्रह मिनट बाद अभी बासु दयाकर की मौत का एविडेंस हटा ही रही थी कि अचानक से उसे टेंट के भीतर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी शोर उठने के तुरंत बाद अशोकन बिल्कुल घबराया हुआ वहां से बाहर भागता हुआ नजर आया अभी बासु को समझ पाते उसे पहले अशोक ने दया की डेड बॉडी के पास पहुंचकर उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए ये क्या कर रही है तुम बासु ने कंफ्यूज होते हुए अशोकन से सवाल किया हम लोगों को पुलिस से बचना है कि नहीं अशोकन ने कांपते हुए लफ्जों में अपनी माँ बासु की तरफ देखते हुए कहा